एक दूसरे के लिए हुआ ना फिर एक दूसरे के लिए हुए एक दूसरे मात्र के लिए नहीं हुआ यह उसके लिए वह इसके लिए परस्पर दोनों हुए तो पहले आपकी व्यवस्था क्या थी सांख्यों में प्रधान पुरुष के लिए होता है लेकिन पुरुष प्रधान के लिए नहीं होता इसलिए चुंबक ने दे दिया पुरुष सत्ता मात्र से जो उसको सारा काम करने के अवसर दे रहा है वो उसके लिए नहीं है आपका सिद्धांत खत्म हो जाएगा वो बात प्रधान के अंदर जो पारार्थ्यता है वो अनुपन्न हो जाएगा नहीं और दो इतने तो गुण प्रधान भाव उपदे है जब दोनों के दोनों भोक्ता है एक गौण दूसरा प्रधान व्यवस्था ही नहीं हो सकती है जैसे प्रकाश और इव इतरेतर तो प्रकाश ने जैसे दो प्रकाश मान पदार्थ है एक दूसरे को प्रकाशन कर रहे हो और ये प्रधान है एक गौण है व्यवस्था नहीं हो सकती भोग धर्मवती सत्तांगिनी छेद से पुरुष से चैतन्य प्रतिबिंब उदयो अविक्रिय से पुरुष से वक्तृत्व चेत आगे ना धीरे धीरे वेदांत में पहुंच रहा है प्रतिबिंब आ गया कहे भोग धर्मवती सत्तांगिनी चेतसी पुरुष से चैतन्य प्रतिबिंब उदयो अविक्रिय से पुरुष पुरुष का प्रतिबिंब बढ़ गया कहा चित्त में सत्रूपी अंगी है अवयवी है जो कि सबसे पहला कार्य किसका प्रकृति का प्रधान का सत्य तो मने महातत्व बुद्धि तत्व जिसको बुद्धि भी कहते हैं महत्व भी कहते हैं है ना वो तत्व जो है ना उस अंगी रूपी उस चित्त रूपी तत्व में जो कैसा है वो भी भोग धर्म वाला है ना मैं जब दोनों भोग धर्म वाला स्वीकार कर लिया गया था तो भोग धर्म वाला सत्य रूपी अंगी जो चित्त अर्ध महत्व बुद्धि तत्व उसमें क्या हुआ पुरुष से चैतन्य बिंब प्रतिबिंब उदयो पुरुष का जो चैतन्य था उसका प्रतिबिंब उस चित्त में उदय हो गया तारस उदय को ही अविक्री पुरुष का भोक्तृत्व मारूंगा इति चेतन तद पुरुष भोक्तृत्व क्या रहा पुरुष का भोक्तृत्व होते हुए पुरुष में भोक्तृत्व नहीं हो सकता तो पुरुष के अंदर भोक्तृत्व आप आया है कहोगे ना फिर पुरुष के स्वरूप भोक्तृत्व तो नहीं रह जाएगा कि प्रतिबिंब के वजह से आविक्र पुरुष के अंदर भोक्तृत्व आ गया है अर्थात पुरुष से विशेष अभाव है कहने मतलब क्या हुआ फिर पुरुष के अंदर कोई विशेष उत्पन्न नहीं हुआ तो भोक्तृत्व तो कल्पना तक क्या तो पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार के भोक्तृत्व के आप जो सिद्धांत मानते हो वह व्यर्थ ही हो जाएगा तो कहते हमारे मत में तो सब व्यर्थ होते जाते तुम्हारे मत में सब सही होता है ये किसी बात करते कहते हाँ यही तो विलक्षण आता है आपकी अपनी मान्यताएं गलत आधार पर है इसलिए आपकी हर बात गलत ही होता है क्योंकि जड़ ही गलत है तो सारी चीजें गलत होंगी ना जब बीज ही नीम का बोया है तो चारों आम का पेड़ उसमें आम लग जाए तो कैसे लग सकते तो हमारे आधार ऐसा नहीं हमारे श्रुति रूपी आधार किस तरह से हम लिए हुए हैं जैसा भी जो ऐसा फल इसलिए देता है तो कहते देखो भोग रूप चेत अनता पुरुष से नास्ती अब कहता है पुरुष के अंदर जो भोग रूप होता है ना वो अनर्थ नाम का चित्र नहीं हो सकता असार्थक क्यों सदा निर्विशेषता पुरुष क्योंकि पुरुष के स्वरूप क्या है सदा निर्विशेष है कस्य अपने तब सिद्धांत पूछता है फिर किसका अपनयन करने रहे मोक्ष साधन कर रहे हो तुम ये शास्त्र पात्र किसके लिए है कस्य अपनयनार्थम मोक्ष साधन शास्त्र प्रणीयत है किसके अपनयन करने के लिए आप इस मोक्ष शास्त्र का सिद्धांत दे रहे हैं अविद्या अध्यार्थ अनर्थ प्रेरणाय शास्त्र प्रेरण मिति अविद्या के द्वारा अध्यारोपित अनर्थ का प्रेरण करने के लिए शास्त्र का प्रणयन किया है दीक्षे तो सिद्धांत जवाब देता है वेदांति अरे बा हमारे मत में तो कोई समस्या नहीं बनता क्यों परमार्थ तो पुरुष भोक्त कर्ता प्रदान करते कर्तव्य भोक्तरी परमार्थ सद वस्तुंद्रम पुरुषाक्ष इति कल्पना आगम बाया व्यर्था निहेतु का चेती न कर्तव्य मुमुक्ष यदि ऐसा मान लेते हो कि अविद्या का अध्यारोपित जो भोक्तृत्व भोक्तृत्व का अपनयन करने के लिए ही शास्त्र का प्रणयन किया गया है यदि हमारे स्वभाव का स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी ये सारी कल्पनाएं आदर करने योग्य नहीं रह जाती है क्या कि परमार्थ जो पुरुष के अंदर भोक्तृत्व है कर्तृत्व नहीं प्रधान में कर्तृत्व है भोक्तृत्व नहीं इत्यादि और परमार्थ सद्वस्तंत्र है पुरुष से भिन्न प्रकृति इत्यादि जो आपकी कल्पनाएं हैं ये कल्पना आगम बाह्य हो जाएगी अतएव व्यर्थ है निर्हितु का अच्छा किसी अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करने में सक्षम नहीं रह जाता है इति मोक्ष वे ना कर्तव्य इसे मोक्षों के द्वारा ऐसे शास्त्रों का आदर नहीं करनी चाहिए कहता है ठीक है आपके मत में भी तो व्यर्थ है शास्त्र ये हमारी शास्त्र व्यर्थता के लिए आपने हमको मजबूर कर दिया पर विचार विचार बिछा करके अविद्या तो मनवा दिया आपने हमको ठीक है यानी आपके आप देख में द्वितीय है ब्रह्म और कभी बंधन में आया है क्या जब एक ही है दूसरी है ही नहीं तो बंधन का मोक्ष कहा शास्त्र कहां से आ गया सब बकवास है तो आपके मत भी तो व्यवस्था नहीं बनेगी कभी एकत्र भी शास्त्र प्रणाली आनधक्य मिचेत न अभावा एक में अद्वितीय आत्म ब्रह्म तत्व को स्वीकार करके चलोगे ना उस स्थिति में भी शास्त्र का प्रणयन आदि व्यर्थ हो जाएगा यदि चेत न ऐसा नहीं कर सकते अभाव क्या अभाव सत्सु ही शास्त्र प्रणय फलार्थ से शास्त्र से प्रणयन अनुगम सार्थक वायदिक कल्पना अरे पूछने वाले तुम अलग हो ना भी अरे भाई आप पूछ रहे हो ना शास्त्र प्रणय सार्थक है कि निरर्थक है कौन पूछ रहा है तो पूछने वाला अलग है ना अपने से भी शास्त्र को मान रहा है कि नहीं मान रहा है वो तो मान रहा है तो उसके लिए ही है वो शास्त्र जो पूछने वाला उसी के लिए चंद्र अभी अज्ञान है तेरे तो पूछ रहा है यदि एक अभी तो पूछता किससे ये दूसरा ही नहीं है ना जब दूसरा है नहीं तो पूछने वाला कौन है किससे पूछेगा किसके बारे में पूछेगा सवाल ही नहीं उठता इसलिए यदि आप हमारे मत में आओगे ना असली मौनी हो जाओगे पूछ ही नहीं सकते आरोप क्या लगाओगे हमारे ऊपर तो स्वयं एकत्र में आ जाओगे दूसरा तो रहेगा नहीं तरह द्वैतम युवा भवती तत्र अन्य अन्य ने जिगरेट पश्चित इत्यादि वर्णन किया है यत्र तो एकत्र में वह पश्चित यत्र तो सर्वमहतो तद कम पश्यत इतनी श्रुतियां इसलिए जहाँ एकत्व का नाम ना ना फिर तो ये शास्त्र सब बंद हो जाएगा अपने आप खत्म हो जाए मौन हो जाओगे इसलिए ऐसा समस्या हमारे पास नहीं रहेगा क्योंकि सत्सु शास्त्र प्रणेत्र आदिशु तत्फलार्थु शास्त्र से प्रणय क्योंकि शास्त्र प्रणेता आदि और तत्फल को कामना करने वाले लोग के रहने पर ही यह शास्त्र प्रणयन को स्वीकार किया गया अन्यथा अनर्थकम साधु विकल्पना न ऐसा अनुभव हो जाएगा नहीं तो एकादश जो है अनर्थगम या सार्थ वित्याशा पढ़ने संबंधी जो विकल्पना है वो तो नहीं हो सकती है इनके होने पर ही विकल्पना है इनके न होने पर विकल्प भी नहीं रह जाएगा नहीं आत्म एकत्र शास्त्र प्रणित्रादय तथो भी न संधि क्योंकि आत्म एक दर्शन यदि हो गया फिर तार्श आत्मा से भिन्न कोई शास्त्र प्रणीता या फलार्थी आदि उस एक आत्मा से भिन्न रूपेण प्रति नहीं, होगा आत्मिक शास्त्र प्रणित्रादय तथो भिन्ना न संति तदाभावे इसलिए जब वो नहीं है तो एवं विकल्प नहीं पन्ना यदि कहोगे शास्त्र प्रणेता भी नहीं है फलार्थी भी नहीं है कुछ भी नहीं है ग्रंथ ही नहीं सातकार्थ का प्रश्न वहां से उठी वो भी नहीं अभिभगते आत्मिकत्व प्रमाणाश्च भवता यदि आपने आत्मिकत्व को स्वीकार कर लिया फिर तो श्रुति रूपी प्रमाण के द्वारा सिद्ध पदार्थ को आपने स्वीकार कर लिया स्व सिद्धांत को त्याग दिया है यह मानना पड़ेगा ऐश्वर्य सिद्धार्थ क्या है धीरे गच्छता हूं जो आप आत्मिकत्व को तो स्वीकार कर रहे हो उस स्वीकार मात्र से ही प्रमाणात्म स्वीकार आपके द्वारा तो स्व सिद्धांत हानि हो जाएगी और यदि आप कार्य कर ही लिए तो विकल्प पद्मा शास्त्र तभी विकल्प भी उपन्न नहीं यह बात शास्त्र स्वयं कहना है क्या ये तत्व से आप सर्वाते हो तत्के न कम इत्यादि सद प्रणाली उपपत्ति आ हाँ, अन्यत्र और शास्त्र प्रेरणा का फल क्या इस बात को ठीक परिषद में अन्य प्रसंग में कहा गया है क्या परमात्म वस्तु स्वरूप अर्थ स्वरूप से वस्तु स्वरूप भिन्न भूता मामला है और शासित आदि आदि विस्तृत इस बात को विस्तार परिश्रम देखा जा सकता है अत्र विभक्ति विद्यार्थी बराबर इत्यादि एवं शास्य अतो प्रवेश हो वेदांत राज प्रमाण बहो गुप्ता आत्मिक विषय में सांज्ञादि मतों के प्रवेश करने का अवसर ही नहीं है कि वेदांत रूपी राजा के प्रमाण रूपी सुदृढ़ बाहुओं के सुरक्षित आत्मगत विषय विज्ञान वेदार्श विज्ञान में सांख्यादि प्रवेश तार्किकों का कोई अवसर नहीं होता कहते हैं अत्र विभक्ति विद्या विद्या परापरे इस विद्या पराविद्या और अपरा विद्या जैसे प्रकार से हो जहाँ निर्णय दिया गया है उस विषय में इत्यादि एवं शास्त्र इत्यादि स्थलों में ही शास्त्रीय प्रवृत्ति होती है तार्श स्थलों में अतो न का वाद भटक प्रवेश हो तार्किक तार्किक लोग जो कर प्रवृत्त तारस पुरुषों के लिए कोई प्रवेश यहाँ नहीं हो सकता क्यों ये ऐसी आत्मकत्व रूपा जो ज्ञान है ना इधर विषय ज्ञान ऐसी किला के बीच में है इधर सुरक्षित है और संविधान रूपी राजा के पास श्रुति रूपी प्रमाण तक बाहु है जिस बाहुओं से गुप्त है अर्थात सुरक्षित है अविद्या कृत नवराधिक अनेक शक्ति साधन कृत भेदवत्ता ब्रह्म सृष्टि आदि कर्तृत्व साधा भाव दोष प्रत्युक्त उसने कहा ना पुरुष के पास साधन कहाँ जाएगा इसमें प्रधान को ही कर्ता मन सृष्टि करते हैं और प्रधान में ही चेतनता का आरोप है पूर्व कहा उसने देते इसे निष्कर्ष जो नाम रूप आदियों से होकर के अनेक शक्ति साधनों को भेद रहा यह ब्रह्म है ताश ब्रह्म से सृष्टि ब्रह्म ही सृष्टि कर्तृत्व मानना उचित है अर्थात में साधन भाव दोष जो पूर्व क्षण ने दिया था वो खंडित हो गया समझो क्योंकि साधना सब कुछ अविद्या भरा नामोपाय भेद के माध्यम से उस ब्रह्म को दे दिया गया है ब्रह्म बात कुछ नहीं बात सच है ब्रह्म है न उसके पास है सीधे के पास जो कुछ भी है उसी पास हाँ, तो ये कह रहे हो को सबके हाथ वो आगे परी के में नाचता है आप हाँ, तो वेदांत करो कर नहीं कर रहा है वेदांत कर सरण कर स्वयं ब्रह्म बन गए अब पत्नी माया तो वही इंसान कर तो रूपता आत्मा अनर्थ कर्तृत्व दोष इतनी परिरूपता यह कर्प आज जो हाँ, वो समझो और जो हमने दृष्टांत दिया था राजा के नौकर को भी राजा जैसे कह देते हैं फिर प्रकृति को सदन का देने वाले अंदर भी हम चित्रत का आरोप कर लेते हैं वो दृष्टांत भी ठीक नहीं ये सो तो दृष्टांत और राज्य सर्वार्थ काली करते उपचारा राजा करता सो अत्र अनुपन्ना राजा के सकल दिलों को सिद्ध का जो करता कोई दूसरा मंत्री संतरी है उसको औपचारिक रूप से राजा है ऐसे जिस प्रकार होता है उसी प्रकार यहाँ मान लो कि वह भी अनुप्रष्ट हो क्यों सा इच्छा करेगी मुख्या तबाद करने में क्या प्रमाण है आपके पास सह लिंग भी है ईशान चक्र चेतन धर्म संकल्प आदि ये सब होते हुए भी आप इस मुक्त बात करने के लिए कोई प्रमाण तो दे श्रुते होता है क्योंकि ये प्रमाणभूत श्रुति का बोलित तो मुख्यत्वाद हो जाएगा यदि आप ये दृष्टांत को लेके चलते हैं तो क्योंकि तत्र गौणी कल्पना शब्द यत्र न संभव संभवती क्योंकि सिद्धांत के मत में वहीं पर हम गौणी कल्पना करेंगे जहाँ शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता हो तो अचेतन से मुक्त बुद्ध मुक्त बद्ध विशेषापेक्षा काल निमित्तापेक्षा चंद मुख्य देवता पुरुषम प्रवृत्ति है और यहाँ सही क्षण चक्र वाक्यार्थ को देखने से ज्ञापन होता है कि तो है प्रकृति प्रधान उसकी जो पुरुष के प्रति जो प्रवृत्ति आप कह रहे हैं प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो सकती क्यों पुरुष कैसे पुरुष के प्रति आप मानते हो किस प्रकार के पुरुष के प्रति आप प्रवृत्ति मान रहे हो प्रधान के अंदर प्रवृत्ति आने का पीछे कारण क्या है क्या क्या अपेक्षा है बद्ध मुक्त पुरुष की अपेक्षा है कर्म देश काल निमित्त की अपेक्षा भी अगर पहले से ही पुरुष में बद्धा यथा मानना पड़ेगा फिर आप सिद्धांत मान जाएगा की प्रति उसको भोग देकर बदन में डाल दिया है जब वो चाहे भोग हटा देगी तो मुक्त हो जाता है तो प्रधान ने दिया और प्रधान को देर से पहले से उसकी अपेक्षा की अपेक्षा उन्हें सृष्टि निर्माण ही नहीं होगी यह सृष्टि अनादि मान लो उत्पन्न ही नहीं हुआ है चले आया हुआ है प्रधान अनादिकाल से उत्पन्न है व्यवस्था आप बंद कर दो यहाँ प्रधान अनंत कालों से ये कहना पड़ेगा कई कार्य देखो मुक्त पुरुष की अपेक्षा से पुरुष प्रवृत्ति लोपति सर्वे कर दिया अचेतन जो जड़ है जो अचेतन है प्रधान नामक या प्रकृति नाम का वस्तु मुक्त और बद्ध पुरुष विशेषण की अपेक्षा को लेकर के ही क्या होता है प्रवृत्ति को प्राप्त होता है और कर्त कर्म रेश काल की अपेक्षा को भी लेकर के बंद मोक्ष फल प्रदान करने वाली होकर पुरुष निरा प्रवृत्ति किया वो उत्पन्न नहीं हो सकता यथोक्त सर्वज्ञेश्वर कर्तृत्व पक्षे तो उपन्ना और यदि हमारे मत अनुसार चलोगे जो सर्वज्ञ ईश्वर कर्म स्वीकार किए हैं सब कुछ ज्ञान है कब उसकी आरभ करना कब नहीं करना और उसके पेट में सब्जी अलग है ना वो अलग है चेतन प्रधान को पूर्ण चेतन की अपेक्षा है क्या ईश्वर को क्या है किसी की अपेक्षा नहीं है केवल उसको ज्ञान की अपेक्षा है और ज्ञान उसके पास क्यों सर्वज्ञ हमने कह दिया उसको जीवों का ज्ञान चाहिए ना जीवन कर्मानुसार सृष्टि करने के लिए कर्म का ज्ञान होना अपेक्षित है और चित्र होने ज्ञान उसका ज्ञान हो सकता है और जब वो तब प्रकृति के अंदर ही ज्ञान कैसे होगा कि पुरुष बद्ध है या ये पुरुष मुक्त है किसको मैं भोग दू फल दू किसको न दू व्यवस्था उसको कहा से क्या हमारी भेद की अपेक्षा भी है ना वो भी कैसे उसकी बुद्धि में आएगी बिना चेतनता का तो इसीलिए उनकी व्यवस्था तो बनती नहीं और हम जो सर्वज्ञ ईश्वर के अंदर कर्तव्य तो मान लेते हैं तो ये दोष सब दूर हो जाता है ईश्वरेण इव सर्वाधिकारी प्राण पुरुषेण सृजते ईश्वर के द्वारा जैसे होता है उसी प्रकार सर्वाधिकारी प्राण सर्वाधिकारी जो प्राण है उसी को पुरुष के द्वारा प्रथम सृष्टि कर लिया जाता है इसलिए आरंभ होता है मंत्र स प्राणम असृजत प्राणा पृथ्वींद्रिय मन अन्नम मन्ना वीरियम दबो मंत्रा लोकेशु नाम उस पुरुष ने सर्वप्रथम प्राण की रचना की क्योंकि उस चेतन में ज्ञान शक्ति तो नित्य रहेगा लेकिन क्रिया शक्ति तो लानी पड़ेगी जैसे आप बैठे हैं आपके अंदर तो ज्ञान है लेकिन कुछ करना है तो संकल्प करना ही पड़ता बिना संकल्प किया आपके शरीर भी नहीं हिलेगा जब सोया हुआ आदमी को देखो जैसे बच्चों में देखिए कितने बार बोलना पड़ता है कई घरों में तो ऐसे बच्चे तो बिना एक बाल्टी पानी ऊपर डाले उठते ही नहीं तो फिर यह लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती तो इसलिए कहते कि देखो कर्तृत्व को लाने के लिए उसने क्या किया क्रिया शक्ति रूप प्राण को सबसे पहले उत्पन्न किया फिर प्राण से श्रद्धा श्रद्धा से आकाश वायु अग्नि ज्योतिष से अग्नि क्योंकि क्रम वायु यह घटेगा तभी क्योंकि आपा बांधा है जल पृथ्वी पंचभूत उस पंचभूतों से फिर इंद्रिया इंद्रियों का समूह समष्टि स्वरूपता मन और इन सब के लिए खाना पीना अन्न अन्न से क्या हुआ वीर रूप बल पैदा हुआ का शुद्धि के साधन फिर तप को उत्पन्न कर लिया उस बल का इस्तेमाल किस लिए किया लुटने के लिए नहीं तपस्या के लिए प्रयोग कर दिया गण शुद्ध हुई तो तप के साधन क्या है कहते मंत्राह तप का साधन मंत्र है और मंत्र से क्या किया आदि कर्मों को किया अकर्म के फलस्वरूप लोक प्राप्त हुए और उन लोकों में प्राणियों के देवदत्त यज्ञ दत्त इंद्र इत्यादि नाम प्रकट हो गया नाम उत्पन्न किया इस प्रकार से सोलह कला वाला इस पुरुष का विचार हो रहा है पूरा हो गया यही सोलह कला है प्राण एक है श्रद्धा दो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पांच पांच दो सात हो गया ना आठवा इंद्रिया नौवा मन दस अन्न ग्यारह वीर बारह तप तेरह मंत्र चौदह कर्म पंद्रह लोक सोलवा नाम भाष्यकार ईश्वर ने युवा सर्वाधिकारी प्राण पुरुष कदम पुरुष उक्त प्रकार ने इच्छित वह पुरुष उक्त प्रकार से इच्छन किया मैं किसके उठने पर उठ जाऊंगा किसके बैठे रहने पर मैं बैठे रह जाऊंगा वो क्या है ऐसा सोचा और उस तत्व को उसने सृष्टि करी वह तत्व कौन है प्राण जब प्राण के चलने पर यहाँ से आप लोग व्यवहार भी करते हैं आत्मा चला गया प्राण के रह जाने पर आप कहते भाई इसकी आत्मा इसके अंदर है ये मरा नहीं ये तो व्यवहार होता है आपको कोई ये नहीं कहेगा ये मरा हुआ आदमी है क्यों आप घुमरे फिरे कार्य पीछे प्राण है ना और प्राण जैसे निकल जाएगा कहेंगे अरे भाई ये तो महाराज चले गए यहाँ से अरे महाराज तो वही है शरीर तो पड़ा है कहते नहीं आप कहते शरीर पड़ा है महाराज तो गए तो व्यवहार तो उसी वजह करता है यही उसके क्या कहती वो कौन चीज है तो वो इसको पैदा पैदा करो जिसके रहने पर या उठने जाने पर मेरा जाना या रहना हो, हो सकेगा ऐसा तो वस्तु कौन है तो प्राण था ऐसा सबसे पहले प्राण की सृष्टि करी इसलिए उनका उक्त प्रकार इच्छिता प्राणम हिरण्य गर्भाख्यम सर्व प्राणम करके लिया एक तो समष्टि में क्योंकि ईश्वर यदि लोग एक सौ से समष्टि में हो जाएगा सर्व प्राण हिरण्य गर्भाख्य और वृष्टि में रोज सोते हैं सोने के फिर संकल्प कर लेते उठ जाते हैं ये जो चीज होती है वहां पर वृष्टि प्राण होता है हिरण्य गर्भाख्यम सर्व प्राणी करणाधारम सकल प्राणियों के कर्ण का आधारभूत तत्व है अंतरात्मान जो कि अंतरात्मा है अंतर्यामी उसको असृजत सृष्टवान अतः प्राणात इससे अच्छा प्राण से क्या पैदा किया श्रद्धा सर्व प्राणी शुक्र प्रवृत्ति हेतु सकल प्राणियों के अंदर जो शुभ कर्म प्रवृत्ति का कारणीभूत है जब कोई शुभ कर्म करना होता है ना आप ये नहीं सोचते ना अंदर से कोई आवाज आता रोकता नहीं है यदि कोई गलत कर्म करना चाहो तो अंदर से एक दो बार आवाज आता है ये चोरी करना चाहते हैं तो थोड़ा डर लगता है पहली बार चोरी करता है ना तो पता है उसको किस तरह से बहुत डरता है चारों तरफ देता है आगे पीटता है कहीं हल्का में भी आवाज आता उठ के एकदम पीछे हो जाता है नहीं हल्का उसने आवाज आता है तो फिर देखिए उसका हाथ क्या होगा फिर भागेगा वहां देख रहा है का मतलब अपने बहुत अंदर से उसको रोकते कोई शक्ति विशेष असम करने के लिए शुभ कर्म करने के लिए कोई नहीं रोकता अरे हम रोकते अरे हमें दिखा जाएगा कर लेंगे बहुत जिंदगी है अभी स्वयं की जो मूर्खता है आज उसको हम करें प्रमाद है प्रमादवश भले हम शुभ कर्मों को न करें तो शास्त्र सिद्धांत और वास्तविक व्यक्ति का स्वभाव है वो शुभ कर्म करना ही चाहता है जैसे सड़क पर आप जा रहे कोई आपका लेन देन नहीं होता है खट से कोई बच्चा गिर जाए ये क्या हो गया क्यों आई हुआ आप अरे जाने दो मरने दो क्यों नहीं आया मन नहीं आता हो पहले शुभ विचार ही आएगा नहीं ये तो अच्छा नहीं जब हमारा है जब पर है कोई नहीं बल्कि कई तो प्रयास करेंगे दौड़ भी जाएंगे बचाने की कोशिश करेंगे गिर रहा फंस रहा है गड़बड़ हो रहा है ये शुभ कर्म की प्रवृत्ति सबके अंदर स्वाभाविक है क्योंकि वो ईश्वर से श्रेष्ठ है श्रद्धा नाम की वस्तु अपने अंदर है इसलिए श्रद्धा क्या है शुभ कर प्रवृत्ति हेतु भूता श्रद्धा सकल प्राणियों में इंद्र स्वाभाविक रूप श्रद्धान उसको सृष्टि ईश्वर ने उत्पन्न किया अतः प्राणा श्रद्धा सर्व प्राणियाम कर प्रवृत्ति हेतु भूताम उस प्राण से श्रद्धा को उत्पन्न प्राण मन से हिरण्य गर्भ अंतर्यामी पुरुष बोल चुके हैं प्राण का अर्थ बताए थे कि गर्भ जो सगल प्राणियों का जीवों का कारण होता जो कि समस्त प्राणियों का कारण का भी आधार भूत सूक्ष्म वगैरह का भी आधार अंतरिया में अंतरात्मा उसको सृष्टि किया था ऐसे कहा था उस प्राण से भी श्रद्धा को श्रद्धा क्या है सगल प्राणियों के जो शुभ कर्म प्रवृत्ति का कारण भूता तत्व विशेष है उसको उसने उत्पन्न किया यहाँ पर विचार आता है कि भाई श्रद्धा को क्यों लाए बीच में स्पष्ट करे तथा उससे भोग साधन अधिष्ठानी कारणभूतानी महाभूतानी असर्जत क्योंकि उससे उन्होंने क्या किया कर्म फल का उपभोग का साधन अधिष्ठान जो पंच महाभूत है कारणभूतानी महाभूतानी कारणभूता महाभूतों को लेना कार्यभूता महाभूतों को नहीं लेना कारणभूतानी महाभूतानी असृजत उत्पन्न किया क्योंकि कर्म फल के प्रवृत्ति कारण श्रद्धा वह कर्म के बिना तो नहीं हो सकता ना पहले कर्म है तभी उसमें हमारी प्रवृत्ति के प्रति कारण श्रद्धा को देखी जा रही है और वेद विहित कर्म में हमारी जो प्रवृत्ति है उसे कारणभूत वस्तु का नाम श्रद्धा है कर्म सामान्य के प्रति यदि लेंगे तो वो श्रद्धा नहीं है कर्म सामान्य तो लौकिक कर्म भी है, कि नहीं लौकिक कर्मों में जो श्रद्धा है उसको श्रद्धा नहीं मानते शास्त्रकार लोग लोक व्यवहार में उसको भले श्रद्धा कह दे कि शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसको श्रद्धा नहीं कहा क्योंकि लौकिकी जो कर्म है यह कर्म सृष्टि के प्रति कारण नहीं है ये जो है सृष्टि के प्रति कारण नहीं मानते इसकी स्थिति का कारण कौन है आपने देखा है गीता में भी आया है अनुस्मृति में सब जगह जो हम आहुति यहाँ देखते हैं यहाँ से कहा जाता है आदित्य को प्राप्त होता है नहीं प्राप्त होकर के फिर वो वर्षा का कारण बनता है वर्षा से अन्न होता है क्रम जो दिखाया हुआ है जो शास्त्रीय कर्मों को ही कारण बताना फिर इस सृष्टि के प्रति उत्पत्ति और सृष्टि के प्रति एक तरह लय के भी शास्त्रीय कर्म ही कारण होता है लौकिक कर्म केवल हमारे इस लौकिकी जो भोग है उतर मात्र कारण है वह सृष्टि की उत्पत्ति या सृष्टि का स्थिति के प्रति कारण इसलिए कार्य कारण भाव से कह रहे हैं उत्तर उत्तर के प्रति पूर्व पूर्व का कारण अर्थाश कर्म और प्रकार प्रतीत वो श्रद्धा करने को अंतर्यामी ईश्वर इसलिए पहले सा प्राण सृजता शुरू करके प्राण की रचना की और प्राण से क्या किया श्रद्धा को श्रद्धा से फिर कम होता जितने होते हैं उनको पैदा किया कर्म के कारणों को पैदा किया और कर्म फल उपभोग के को कर्म फल के उपभोग के साधन कौन है साधनों का भी जो कारण है साधन तो स्थूल रूप हो गया स्थूल का भी जो अधिष्ठान भूता कारण भूता तत्व है महाभूत है उनको सृष्टि किया कौन से कौन से वायु सिर स्पर्श कारण गुण विशिष्टम द्विगुण हाँ, जो स्पर्श रूपी गुण सहित तो कारा जो है शब्द उसको लेकर वायु जो सृष्टि हुई उसके अंदर दो गुण रह गए तथा तो ज्योति ही मैंने अग्नि का स्वयं रूप है अपना जो रूप है रूप मात्र रूप रूपात्म गुण है उसके सही पूर्वाभ्यान पूर्व में आया हुआ जो वायु का गुण स्पर्श और आकाश का गुण शब्द इंद्र को शब्द स्पर्शाभ्याम पूर्वाभ्याम शब्द स्पर्शाभ्याम तथा आप रसेन गुणेन असाधारण पूर्वगुणा प्रवेश गुण प्रवेश अपना जो गुण है रस उसके साथ जो सा प्रगुण का रस और उसके अंदर जो अन्य पूर्व गुण को अनुप्रवेश करने से चार गुण है तथा गंध गुण पूर्व गुणा और प्रवेश पंच गुणा पृथ्वी क्योंकि कार्य गुण के साथ साथ आनंद समस्त गुण भी उस कार्य में विद्यमान रहेंगे इस परंपरा से पंच गुण वाला पृथ्वी हो गया क्योंकि यहाँ इंद्रियों को बाल में लिया ना इंद्रियम मन ये लिया इसके बाद ज्ञान इंद्रिया इंद्रिय उत्पन्न हुई फिर इन सबका संचार मन को स्थापित किया गया ये जो कह रहे हैं इससे भी स्पष्ट है जो बीच वाला खम वायु जो तेरा पृथ्वी ये क्या है भूस ही लेना पड़ेगा अपंचीकृत महाभूत जिसको तन्मात्रा शब्द से कहा जाता है उसी को यहाँ लेना पड़ेगा इस तरह आगे क्या बताया इंद्रिय बताया है फूल पंचभूतों का कार्य नहीं है ना इंद्रिया इसलिए यहाँ सूक्ष्म भूतों को ही लेना तैर मत आरब्धम इंद्रियम विप्रम बुद्धि कर्मात्म दश संख्यम उन्हीं भूतों के आरब्ध है दो प्रकार की इंद्रिया एक ज्ञान के लिए एक कर लिए दो समुदाय प्रत्येक में पांच पांच है अतः कुल मिलाकर के दस इंद्रिया हुई दस यानी इंद्रिया भी बिना इसको कोई नियंत्रण करने वाला नियमन करने वाला हो ठीक कैसे चंगे कैसे ये इसलिए इनको भी ईशन करने वाला कोई उसके लिए उन्होंने क्या कि उसे मंत ईश्वरम अंतस्थम संकल्प लक्षण मन तो उन्होंने क्या किया तस्वीर तो ईश्वर उसका जो ईश्वर है उस पर शासन करने तो इन सकल इंद्रियों को बनाए रखने वाला नहीं तो सब उल्टा पुल्टा काम करेंगे ये काम मैं देखा कहकर मैं नहीं देखूंगा मैं रहूंगा बिना देगा सुन पाओगे दोनों तो की लड़ाएंगे अब जो मन आपको मर्जी रहा है सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं सब कुछ और बढ़िया ढंग से चल रहा है इस मालिक के बिना कोई काम चलता नहीं इसलिए यहाँ पर बता रहे कि ईश्वर अंतस्थम और वो इन सबसे भी सूक्ष्म है अंतस्थ मैंने सूक्ष्म इनसे भी ये दस जो इंद्रिया बाह्य है जो पच ग्यारह इंद्रिया इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है उसे भी अंतर है और यार उसका संशय संकल्प लक्षण न हो संशया संकल्पात्मक संशय संकल्पात्मक वृत्ति रूपा यह मन है एवं तरंग करण सृष्टवा इस तरह से इन जीवों के लिए अपेक्षित कार्य और कर्ण समुदाय को सृष्टि करा लेकिन इनकी स्थिति कैसे होगा स्थिति के लिए तो जो है अस्तित्थम व्रीही आवाज लक्षणम अन्नम इनकी स्थिति के लिए व्रीही आवादी रूपा अन्न की उत्पत्ति क्योंकि कार्यक्रम संघात तो जब पैदा हो गया सुख शरीर तो उसका घर पर सूक्ष्म शरीर बनेगा पंच उसको शरीर बनेगा शरीर की स्थिति के लिए अनुपन है बीच में वो वर्णन नहीं किया अंचकरण पर स्थूल शरीर उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं कहा तो बताते हैं कि वो जो बीच का कार्य है उसका प्रभाव करके भूत कर तो सीधा अन्न में आने का कोई मतलब नहीं होगा बीच में पंजीकरण बताना पड़ेगा पंचम सृष्टि उसमें भौतिक सृष्टि बतानी पड़ेगी सारी जब लोग वगैरह हुआ वही लोगों में विभिन्न प्रकार के शरीर और इन प्रकार शरीरों की स्थिति अन्न ये प्रक्रिया होनी चाहिए तो सारे को इन्होंने भेद कर छोड़ दिया एवं कार्यां कार्य करण च सृष्टवा स्थित्यर्थम विवादी लक्षण अन्नम अदस्ट अन्नाद अद्यमानाद यम सामर्थम सर्वकर प्रवृत्ति साधन उससे अन्न से क्या हुआ अद्यमान आए हुए उस अन्नों से वीर पैदा हुआ वीरी मतलब सामर्थ्य सामर्थ्य का मतलब सामर्थ्य का मतलब है बल कौन सा बल कहते हो भी सर्व प्रवृत्ति साधनम सकल प्रकार के मतलब जो साधनी आप बल को ले ऐसा क्या गड़ा तगड़ा है दूसरों को पीट के गुंडागर्दी करने वाला बल इसलिए यहाँ जानकर भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा वाले भी तो बलवान है ही है वो बल वो भी नहीं लेना तो इसलिए कहते भाई सकल कर्मों में प्रवृत्ति का जो सामर्थ्य है वो प्राप्त हुआ इसलिए स्पष्ट है वो सृष्टि के निमित्त नहीं भले तो सृष्टि विनाश है ये जो लौकिक कर्म हम लोग उल्टा पुल्टा कर रहे हैं यही सब युग का जो है प्रलय का कारण भी ये सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति का कारण नहीं है जितने भी हम अशार करते हैं वह सब हमारे खुद के नाश के लिए अति अधोगति और अंत तो प्रलय डालने के लिए स्थिति का कारण तो यही है तो वीर नाम तप उसके साधन संकीर्य संकीर्यमाणाम तद वीरिवतान नाम उस वीरवान प्राणियों के अंदर फिर ने क्या कर दिया तप नाम का चीज पैदा किया तप क्या है संकीर्य संकीर्यमाणाराम संकीर्ण संकीर्ण मन वाला तीर्ण वाले संकीर्ण इच्छाओं से युक्त जो पुरुष के अंदर विशुद्धि का साधन है तप आप जितनी तपस्या करते जाएंगे उतने ही संकीर्ण विचारा संकीर्ण वासाएं संकीर्ण समस्याएं सब आप जाते तपस्या ही मूल कारण विशुद्धिकरण का और विशुद्धिकरण भी ऐसा होगा तब बदल जाएगा तब कहते मंद्राहा तप विशुद्ध अंतर्भिकूता का जो साम तप से विशुद्ध और वही कारणों से कर्म का साधनीभूत जो ऋतुजानस अथर चार वेद है वही से समझो पहले भी इसलिए क्या तब से यहाँ पर होता जो कि सेवा हो गया गुरुकुल तो में पहले लोग यही होता था तीन साल तक केवल सेवा और मंत्रों को रखना कोई अर्थ नहीं बताया जाता किसी भी तरह के पाठ में बैठना बना सुनना मना सामान्य सत्संग सुन सकते और जो भी रटाने की बात होती थी बस उनको रटा तीन साल तो यही होता था गुरुकुल में उसके बाद सड़ंग के लिए दिया जाता अंगों के और अंग से युक्त कुछ स्मृतियों को लिया जाता धर्मशास्त्र जिसको कहा इन चीजों को ले गए तो तीन साल चार साल जो भी रख जाए उसका वैसे तीन साल उसके बाद जाकर के उन्हीं न्याय मीमांसा के जो उत्कृष्ट ग्रंथ है जिसको जिस लाइन में आगे ना उनके उत्कृष्ट ग्रंथों में पढ़ाया जाना और अंत में वेदांत या तत्व शास्त्रीय भाष्यादि जो अंतिम ग्रंथों वो लास्ट तीन साल में पढ़ा करके तब समाप्त संस्कार होना किया अब नेता है तपो शुद्ध है तब से विशुद्ध हो गया मैंने तीन साल तक सम्यक प्रकार से उसने केवल मंत्र करता रहा विशुद्ध सत्संग द्वारा हो गया तब क्या होता था उस अंतर वहीकरण से करने योग्य जो कर्म था उस कर्म के साधन भूता इनको उत्पन्न किया है तथा कर्म उससे क्या होगा उससे कर्म निष्पन्न होगा कौन से कर्म अग्निहोत्रादि लक्षण वो भी स्पष्ट था इष्ट पूर्व दर्प जो कर गिराए गए हैं उन्हीं कर्मों को लिया है उसे को नहीं उनके कर्मों का ही फल स्वरूप क्या है तो लोका लोका कर्म नाम फलम तेज शिष्टा नाम प्राणी नाम नाम और उन लोकों में जीव है उन सभी जीवों का प्राणियों का आपने क्या कर दिया नाम रखा क्या नाम है देवदत्ता यज्ञ दत्ता इत्यादि नामों को आपने रखा एवं एता प्राणी नाम अविद्या दोष बीजापेक्षा सृष्टा इस प्रकार से ये जो सोलह कलाएं हैं प्राण से लेकर के दृढ़ गर्भ से लेकर के नाम पर्यंत ये सोलह कलाएं इन सोलह कलाओं को लेकर के मैंने समष्टि शरीर फिर समष्टि कारण तत्व वृष्टि शरीर वृष्टि शरीर का जो स्थिति स्थिति का भी कारण स्थिति से उत्पन्न सामर्थ्य सामर्थ्य का जो संशोधन शुद्धिकरण शुद्धिकरण के पश्चात जो है यागादि का अध्ययन कल अध्ययन से जन्य कर्म कर्म जन्य फल फल जन्य जो है पुनः जन्म आदि से युक्त नाम आदि उनको लिया यह सोलह जो कलाएं हैं इन सब सोलह कलाओं को बता रहे हैं कि कैसे हो गए उस ब्रह्म में कदे प्राणी नाम अविद्या दोष बीजापेक्षा सृष्टा जिसको यह संसार दिखाई दे रहा है उसी व्यक्ति की अपनी अविद्या के कारण से ही अविद्या दोष आप तक बीज की अपेक्षा से ये सब उत्पन्न हो गए हैं ऐसे कहा जाता है वास्तव में है ही नहीं वास्तव में कोई कला उत्पन्न नहीं हुआ है अजातवाद आएगा मांडुक्य में लेकिन अब जातवादियों के लिए बात हो रहा है ना जो लोग कह रहे हैं सृष्टि उत्पन्न हुआ है सोलह कला वाला पुरुष कौन है क्या है कैसा है उनके लिए कहा जा रहा है इसलिए कहते स्पष्ट का प्राणियों की जो अपनी है क्या अविद्या आदि दोष रूपी बीज उस बीज को लेकर के कहा गया कि सृष्ट हो गया ये सब सोलह कलाएं उत्पन्न हो गयी कई मेरी दृष्टि सृष्टा है द्विचंद्र मशत मक्ष का स्वप्न दृष्टा इव या तो तिम्र दोष में के दृष्टि से जन्मी जो द्विचंद्रमा के समान आकाश में दो चंद्रमा जैसे दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वहाँ दो चंद्रमा नहीं होता उसी प्रकार यहाँ पर भी उत्पन्न द्वैत उत्पन्न हुआ सा लग रहा है सोलह कला उत्पन्न हुए के समान दिखाई दे रहा है वास्तव उत्पन्न नहीं होता अब एक और दृष्टान दिया स्वप्न में आपने मक्खी बना लिया मच्छर बना लिया मत्स्य मक्षिका आदि जब है क्या चाहता कौन बनाना भी नहीं चाहता वो यहाँ तो परेशान है ही नहीं यहाँ तो मक्की मच्छर से परेशान तो है ही और स्वप्न में भी क्यों चाहेगा कोई लेकिन वासना ऐसी बन जाती मार मार के यहाँ पर उनको <laughs> वहां भी वही आ जाते वहां भी मारना पड़ जाता है तो यद्यपि इसलिए मैं कहने का मतलब वांछनीय अवांछनीय सब कुछ हो जाते क्यों वो अपने अविद्या के कारण सर्व पदार्थ पुनः तस्मेव पुरुष प्रलियंत है सब पदार्थ कहा जाते सुषुप्ति में जाते हो तो कहाँ गए सब के सब अपने में ही लीन हो गए जैसे इधर सब बाह्य लोग भी वास्तव में उसी में लीन है समझो तस्वीन पुरुष प्रलियंग हिता नाम विभागम नाम रूपाधि जो विभाग था इनको त्याग करके वह पुरुष में ही लीन हो जाते हैं क्या दृष्टांत कोई दृष्टांत से समझाओ कैसे लीन होते हैं कथम कद स यथे मंदमान समुद्रायणा समुद्रम प्राप्त संगछन्दी विद्येते तासाम नाम रूपे समुद्रित्यव प्रोच्यते एवमेवास्य परिदृष्टु विमा षोडश कला पुरुषायणा पुरुषम प्राप्य अस्तंगछन्दी विद्येते चासाम नाम रूपे पुरुष एवं वृत्त स अकलो अमृतो भवती तदेश श्लोक प्रलय स्वस्मिन लय जो है उसको दृष्टांत के द्वारा समझाते किस प्रकार से नाम रूप आदि सकल स्वरूप रहित होकर के विलीन हो जाता है उसके लिए आप बड़ा सुंदर दृष्टान दिए हैं स यथा नद्यवाना समुद्रायणा इस समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली जितनी भी ये नदियां हैं इनका लक्ष्य क्या है समुद्र प्राप्त करना यह लक्ष्य है जितनी भी है जो भी झरनाएं भी हो नालिया हो नाले हो नदियां हो का लक्ष्य है अपना कारण भूता समुद्र तक पहुंचना किसी कारण विशेष से फाल्गुन चैत्र वगैरह यही महीने हैं आषाढ़ तक ये चार मास भयंकर धूप जो है सूर्य इनका वाष्पीकरण करते जाता है समुद्र को और अन्यत्र विद्यमान समस्त जलों को वाष्पीकरण करता है और उसी वाष्पीकरण धीरे धीरे धीरे धीरे ऊपर में एक स्थिति पहुंचकर बादल बन जाते हैं और उसी बादल को अपने ही जीवन के कर फलस्वरूप वर्षा ऋतु में वर्षाने का भी काम सूर्य का ही है इंद्रादियों के माध्यम से तत्व मानी देवताओं के द्वारा जब वह संपादन होता है तो ये अन्न हो जाते हैं लेकिन आप देखते हैं कि ये जो जल बूंद आए कहाँ से वहीं से वाष्पूर्ण होकर यहाँ आए फिर यहाँ से वापस वहीं जाना चाहते हैं यदि वे प्रत्येक बूंद जो है यहाँ वह सब के सब समुद्र को प्राप्त यथा नहीं कर पाते उसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा जो है जन्म लेते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते इसलिए दृष्टान जान के लिए कितने तो खेतियों में चले गए और आप तो क्या कहना है आज के जमाने में तो स्पष्ट ही है जगह जगह प्रत्येक नदी के अनेकों बांध बांध दिए जाते हैं सारा जल को इधर उधर ले गए पहुंचना कहा है समुद्र को अन्यत्र नयन हो गया सदुपयोग है चाहे दुरुपयोग है चाहे जो भी है लेकिन यह है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते इसी तरह जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाता है वैसे ही यहाँ पर भी कलयुगी ब्रह्मचारी लोग बहुत होते जाते हैं अरे लोग कोई इसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते सब यही बिखर जाते हैं कोई किसी खेती में चला जाएगा कोई किसी पावर स्टेशन में चला जाएगा और अन्यत्र ही बर्बाद हो जाएगा तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान के दृष्टान दिया ऐसा यथा इमान समुद्रायण समुद्रायणा समुद्रायणा ये विशेषण बहुत जरूरी है समुद्र को ही लक्षित करके चल रही है सारी नदियां समुद्र प्राप्त और जब समुद्र को प्राप्त करते हैं तब क्या होता है अस्तंग चंदी अस्त को प्राप्त हो जाती शांत हो जाता वहां तक की दौड़ इनकी दौड़ दी फिर उसके बाद शांत जैसे कहा होता है मुला का जोड़ कहा थे मुझे मस्जिद तक बस खत्म सीमित है उसी प्रकार यहाँ भी इसकी दौड़ कहा लग है सीधे ही लक्ष्य प्राप्त होना है जो समुद्र तक है वहां पहुंच के होता क्या है कहा नाम रूपे विद्य थे उनका जो नाम था गंगा जी है उनका जो स्वरूप था शुद्ध जल है अशुद्ध जल है जो भी है तो सारा स्वरूप क्या हो गया नष्ट हो गया विद्यत मैंने विनश्यम थी समुद्र इतम प्रोचते सब लोग क्या कहेंगे ये अब समुद्र है ये नहीं कहेंगे इतना जल उठाओ समुद्र से और कहो कि ये गंगा जी है और ये यमुना जी है ऐसे समुद्र से निकाला हुआ किसी भी जल का कोई विशिष्ट संज्ञा आप नहीं कर सकते वहां जाकर समस्त संज्ञाएं और समस्त जो विशिष्ट स्वरूप था और सब समाप्त हो गया बड़ा आश्चर्य है गंगा जी इतने वर्षों से जा रही है समुद्र के अंदर फिर भी आप समुद्र को गंगा जी के बराबर पवित्र नहीं मानते मानते क्या है क्या बड़ा आश्चर्य मने गंगा ही अपने शुद्धत्व स्वरूप को ही त्याग देती है जब समुद्र मिल जाती है वह पवित्र स्वरूप बता उसका भी खत्म सब लय हो जाता है वहां पहुंचने के बाद और यहाँ पर उसकी सामर्थ्य देखोगे थोड़ा सा गंगा जल के ड्रम पानी में डाल दो हफ्ता भर बाद देखो तो सारा जल भी गंगा जल हो जाता है जो उस एक गंगा जल का बूंद में जो प्रॉपर्टीज गिनाया गया है वो सारा जो समस्त उस जल में आ जाता है इतनी क्षमता उसको है लेकिन समुद्र जाने के बाद स्वयं खारा हो जाती है लेकिन उसको मीठा नहीं बना पाती इधर लाखों वर्षों से जाते हुए उसमें कोई परिवर्तन यह नदी क्या हजारों नदियां जा रही हैं किसी ने भी न तो उसको बढ़ा सका है न घटा सका है न अपना स्वरूप का गुणों का किसी भी प्रकार का किंचित भी आधान नहीं कर सके सब कुछ लय हो जाता है और लोग एक ही संज्ञा लेते हैं सारी नदियों का अब एक नाम हो जाता है वहां जाकर समुद्र है ठीक उसी में एवं विवाह प्रदृष्टिमा षोड़शकरा पुरुषम प्राप्त स्तंग इसी प्रकार से यह जो अपने आप को दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता के रूप में मान रहा है ऐसा यह पुरुष का सोलह कलाएं जो अपने पुरुष स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही दौड़ रहे हैं व्यवहारशील हैं वे सब के साथ उस पुरुष स्वरूप को प्राप्त करके ये समस्त कलाएं अस्तंग चंदी अस्त को प्राप्त कर जाते हैं विद्युत आसम नाम रूपे उसी नदी के समान यहाँ पर भी ये समस्त कलाओं का जो नाम है जो स्वरूप है वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं और सबका नाम क्या पड़ता है पुरुष एवं बस पुरुष है इतना ही नाम पड़ता है ये आत्मा है ये ब्रह्म है ये पुरुष है और कुछ नहीं नाम एक हो जाता है जैसे है कहते इसलिए वहां पर जो है संकल्प जब कराते हैं योग निद्रा में चीज एक है उसका नाम और रूप अनेक हो गया है जब उस चीज में लौट जाओगे तो तुम वही हो जाओगे नाम रूप को लेकर जो भेद था वह भेद अपने आप में समाप्त हो जाता है और जिसमें लीन हो रहे जिस स्वरूप को हम प्राप्त कर रहे हैं उस स्वरूप में पहुंचने के बाद यहाँ के किसी भी वस्तु का कोई भी नाम रूप और तदगुण आदि का प्रभाव नहीं रहता नहीं कोई लोग कह सकते हैं भाई हम सुषुप्त में जाते हैं जब हम अपनी अविद्या आदि को लेके जा रहे हैं तो हो सकता है वहां जाने के बाद अब ब्रह्म में भी अविद्या का असर कर जाएगा हम कहा गए ब्रह्मलीन हो गए थे जब ब्रह्मलीन हो गए थे तो किसके साथ गए थे अविद्या के साथ गए हैं फिर गए हैं तो फिर वहां पर जाने के बाद हमारी अविद्या के कारण से ब्रह्म भी थोड़ा गंदा संदा हो गया होगा उसमें भी कुछ अविद्या का असर पड़ गया हो कद ऐसा नहीं होता इसलिए कहते नाम रूपे विद्य संपूर्ण नष्ट होता है जब लय होने लगता है और नाम एक रह गया पुरुष इतम पुरुष हो वह यह जो उस समय रहने वाला एक में द्वितीय पुरुष है वह कैसा है इसलिए कलाओं से रहित है और मृत्यु आदि धर्मों से भी रहित है अकलो अमृतो भवती तत्केश श्लोक इस विषय में यह मंत्र भी कथन करता है